श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पयगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक बंधु दानव रघुनंद नौमि जनकसुताभरम् भजुदीनबन्धुदिने सदानव दैत्यवंशनिकन्दनम् रघुनन्द तिलक चारु उदार जंग उदारजङ्गविभूषणम् आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष शेषमुनिमनरञ्जनं मम निवास कुरु गंजनम हे मन कृपालु श्री राम जी का भजन कर वे संसार के जन्म मरण रूप दारुण भय को दूर करने वाले हैं उनके नेत्र नौ विकसित कमल के समान है मुख हाथ और चरण भी लाल कमल के सदृश हैं उनके सौंदर्य की छटा अगणित काम देवों से बढ़कर है उनके शरीर का नवीन नील सजल मेघ के जैसा सुंदर वर्ण है पीताम्बर मेघ रूप शरीर में मानो बिजली के समान चमक रहा है ऐसे पावन रूप पति श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ हे मन दीनों के बंधु सूर्य के समान तेजस्वी दानव और दैत्यों के वंश का समूल नाश करने वाले आनंद कंद कौशल देश रूपी आकाश में निर्मल चंद्रमा के समान दशरथ नंदन श्री राम का भजन कर जिनके मस्तक पर रत्न जटित मुकुट कानों में कुंडल भाल पर सुंदर तिलक और प्रत्येक अंग में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है जो धनुष बाण लिए हुए हैं जिन्होंने संग्राम में खर दूषण को जीत लिया है जो शिव शेष और मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले और काम क्रोध लोभादि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं तुलसीदास प्रार्थना करता है कि वे श्री रघुनाथ जी मेरे हृदय कमल में सदा निवास करें